उन्होंने कहा कि बिलाशुबा ये दोनों यकीनन जादूगर हैं वो दोनों इरादा रखते हैं कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल दें और तुम्हारे मिसाली तरीक़ा ज़िंदगी का खात्मा कर दें